और आप इस कुरान के जरिए डराइए उन लोगों को जो डरते हैं कि वो अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे उसके सिवा ना तो उनका कोई कारसाज होगा और ना सिफारिश करने वाला ताकि वो डरें